प्रणव ध्वनि ओ शिक्षकों की जिज्ञासाओं को आज ले रहा हूं पहला प्रश्न है की विद्या क्या है प्राचीन काल में चार प्रकार की विद्याएं मानते थे अनवीक्षिकी एक हो गई दूसरी वेद त्रय त्रय तीसरी वार्ता और चौथी दंड नीति वेद त्रयी का मतलब है वेद आदि शास्त्र दूसरा है वार्ता वार्ता का मतलब है व्यापार वाणिज्य लेन देन इत्यादि जो वैश्य का काम है दंड नीति दंड नीति अर्थात शासन न्याय दंड देना ये क्षत्रियों का कार्य और इन तीन के अतिरिक्त एक विद्या और मानी जाती है जिसको आन्वीक्षिकी विद्या कहते हैं इसको समझने के लिए एक शब्द लेंगे अनवीक्षण अनवीक्षण शब्द आपने सुना होगा कठिन शब्द है वैसे संस्कृत का हिंदी में भी प्रचलन में है इसको और खोलेंगे तो अनु और ईक्षण ईक्षण का मतलब होता है देखना जानना अनवीक्षण उसमें और पीछे पीछे जाकर के जानना खोज करना तो की विद्या वो होती है जिसमें किसी विषय की गहराई में जाकर के खोज की जाती है जांच पड़ताल की जाती है सही गलत का निर्णय किया जाता है ये की विद्या कहलाती है हमारे जो प्राचीन छह दर्शन है वैदिक छह दर्शन है उनमें न्याय दर्शन जो कि उचित अनुचित का निर्णय बताता है प्रमाणों का प्रयोग कैसे करें ये बताता है उसको आन्वीक्षिकी विद्या के नाम से कहा जाता है ठीक है दूसरा प्रश्न है वस्तु और पदार्थ में क्या अंतर है वस्तु और पदार्थ ऐसा है भिन्न भिन्न संदर्भों में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वस्तु ये उर्दू या फारसी का जिसका भी शब्द है हिंदी में भी प्रचलित है और पदार्थ शब्द भी प्रचलित है हिंदी में हाँ चीज ठीक है ठीक है वस्तु संस्कृत का ही है चीज शब्द उर्दू फारसी का है वस्तु चीज ऐसा तो वस्तु का मतलब होता है द्रव्य वस्तु का मतलब द्रव्य पदार्थ और द्रव्य ये दो शब्द भारतीय दर्शनों में विशिष्ट अर्थ के लिए स्वीकार किए गए वैशेषिक दर्शन में जब इस संसार का वर्गीकरण किया चीजों को समझाने के लिए तो उन्होंने पहले पदार्थ माने पदार्थ के छह भेद के छह प्रकार के पदार्थ होते हैं उसमें द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय ये छह तरह से विभाजन किया सामान्य हिंदी में जो हम बोलते हैं पदार्थ कहो द्रव्य कहो एक ही बात मानते हैं पदार्थ और द्रव्य को एक ही चीज मानते हैं लेकिन वैशेषिक दर्शन में पदार्थ तो छह माने उन छह प्रकार के पदार्थों में से एक पदार्थ द्रव्य है तो जितने द्रव्य हैं वो भी पदार्थ कहलाते हैं जो भी द्रव्य है वो पदार्थ तो होगा ही लेकिन जितने पदार्थ हैं वो सब द्रव्य नहीं कहलाते पदार्थों के अनेक प्रकारों में से एक प्रकार द्रव्य तो इसलिए लोक में हम पदार्थ और द्रव्य इनको समानार्थक मान के चलते हैं लेकिन ये पर्यायवाची रूप में नहीं है पर्यायवाची नहीं है ये द्रव्य फिर उन्होंने गिनाए हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु अथवा ये जिसे हम वस्तु कहते हैं वो तो है द्रव्य वस्तु का मतलब द्रव्य है या चीज लेकिन जो गुण होते हैं वस्तु में जो गुण होते हैं उन गुणों को वस्तु नहीं बोलते लेकिन गुण पदार्थ तो होता है ध्यान दीजिए एक द्रव्य मान लीजिए एक फल है सेव फल है ये एक द्रव्य है इसको हम पदार्थ भी कह सकते हैं क्योंकि तो जितने भी द्रव्य हैं वो पदार्थ भी कहलाते हैं इस सेव को हम एक वस्तु भी बोल सकते हैं एक वस्तु बोल सकते हैं तभी तो सेव के तीन नाम हमारे लिए प्रचलन में हो सकते हैं पदार्थ द्रव्य वस्तु लेकिन इस सेव में जो लाल रंग है जो मधुर रस है इस रंग को यानी रूप को और रस को इसे हम द्रव्य नहीं कह सकते और वस्तु भी नहीं कह सकते लेकिन इन दोनों को हम पदार्थ कह सकते हैं क्योंकि पदार्थ के छह वेद हैं उसमें द्रव्य के बाद में गुण भी है अब सेव का फल ऊपर वृक्ष से नीचे गिरा ये उसमें क्रिया हुई कर्म हुआ इस कर्म को क्रिया को द्रव्य नहीं कह सकते हम सेव तो द्रव्य है लेकिन सेव में जो गति हो रही है क्रिया हो रही है इसको हम द्रव्य नहीं कहते और इस क्रिया को कर्म को वस्तु भी नहीं कहते लेकिन इस क्रिया को पदार्थ तो कह सकते क्योंकि पदार्थ के छह भेदों में कर्म द्रव्य गुण और कर्म कर्म भी उसमें आया छह में से कर्म भी आया तो आपका प्रश्न था वस्तु और पदार्थ में क्या अंतर है तो वस्तु का मतलब है द्रव्य द्रव्य पदार्थ के छह भेदों में से एक प्रकार है पांच अन्य भी पदार्थ होते हैं गुण कर्म सामान्य विशेष और संपन्न तो ये वस्तु और पदार्थ में अंतर है पदार्थ ये जो शब्द है ये संस्कृत में जिस अर्थ में प्रचलित है इसका जो तात्पर्य लिया जाता है तो इसको पदार्थ दो शब्दों से मिलकर बना है एक पद और एक अर्थ पद का मतलब है सामान्य भाषा में जो हम बोलते हैं शब्द पद का मतलब शब्द जैसे सेब हो गया आम्र हो गया कदली फल हो गया रोटी का हो गई ये जो शब्द हैं पद हैं इन से इन शब्दों से जिसका ज्ञान होता है वो वस्तु वो गुण वो कर्म इन सबको हम पदार्थ कहेंगे क्योंकि पद का वो अर्थ है ओम ये एक पद है शब्द है और इसका अर्थ सर्वव्यापक निराकार परमात्मा चेतन तत्व जिसने सृष्टि को बनाया जो कर्म फल का देने वाला है ऐसा जो वो तत्व है वो तत्व ओम शब्द का अर्थ है पद का ओम पद का वो अर्थ है और मान लीजिए सेव का लाल रंग है तो ये जो ललाई है लाल शब्द बोला लाल शब्द का एक अर्थ है रंग विशेष वो जो रंग है ये रंग भी पद का अर्थ है क्योंकि रक्त लाल एक पद है रक्त एक पद है और उसका वस्तु वो गुण रक्त का मतलब लाल संस्कृत में रक्त का मतलब यहां खून नहीं है ब्लड नहीं है रक्त का मतलब लाल तो वो भी पदार्थ हो गया क्योंकि एक पद से उस अर्थ का हमें बोध होता है और सेब जो नीचे गिरा ये गिरना ये एक शब्द है नीचे गिरना गिरना ये एक शब्द है इस शब्द से हमें किस अर्थ का पता लगा उस क्रिया का पता लगा जो ऊपर से नीचे की तरफ होती है ऊपर से नीचे कोई वस्तु यदि आती है ये जो क्रिया कर रही है क्रिया हो रही है इस क्रिया का पता लगा हमें गिरना से तो गिरना शब्द का जो अर्थ है गिरना शब्द जिसको कह रहा है वो क्या होगा गिरना एक पद है और जो क्रिया हो रही है गिरना शब्द ये एक पद है और नीचे जो क्रिया हो रही है वस्तु में वो उसका अर्थ है तो उसको भी हम पदार्थ कह सकते हैं तो पदार्थ पद के द्वारा जिसको जाना जाता है वो पदार्थ वो द्रव्य गुण कर्म तीनों हो सकते हैं और वस्तु का मतलब तो द्रव्य ही लिया जाता है ठीक है इनमें किसी को पूछना है अगला योग के अनुसार पराशक्ति और अपराशक्ति क्या होती है आगे और भाग है प्रश्न का पहले इतना ही ले लेता हूं तो योग दर्शन में जो पातंजलि योग दर्शन है इसमें पराशक्ति और अपराशक्ति इस नाम से तो कोई चीज नहीं आई है इस तरह से नहीं आया है हाँ हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में उपनिषद में परा विद्या अपरा विद्या ये शब्द तो आए हैं लेकिन योग दर्शन में नहीं है वो योग में नहीं है अध्यात्म में है उपनिषद में है तो परा विद्या का मतलब ऊंची विद्या वो विद्या जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है परमात्मा जाना जाता है जीवन चरितार्थ हो जाता है वो कहलाती है पराविद्या और अपराविद्या उससे नीचे वाली जो संसार के भौतिक पदार्थों का व्यवहारों का हमें जिससे ज्ञान होता है भाषा का विज्ञान भाषा को समझना रहने खाने पीने चलने चिकित्सा इत्यादि विद्याएं जिनसे हमारे व्यवहार चलते हैं उनको अपरा विद्या कहते हैं और योग दर्शन में अगर हम पर और अपर शब्द को देखें परा तो नहीं लेकिन तो पर के साथ वहां एक शब्द आता है पर वैराग्य और अपर वैराग्य वैराग्य शब्द है उसके आगे पर और अपर दो तरह के ये वैराग्य योग दर्शन में बताए गए अपर का मतलब होता है निचला निचला वैराग्य और पर वैराग्य का मतलब ऊपर का वैराग्य और वैराग्य का क्या मतलब लेते हैं जो संसार या इन पदार्थों के प्रति हमारी तृष्णा है लालसा है प्राप्ति की इच्छा है राग है वो राग का हटना हट जाना वो जो स्थिति है उसको कहते हैं वैराग्य राग के अभाव को विराग बोलते हैं और उसके भाव को वैराग्य बोलते हैं पृथक होना संसार से संसार के भोगों से अलग होना ये वैराग्य कहलाता है नीचे वाला जो वैराग्य है अपर वैराग्य उसके आने पर समाधि लग जाती है और जो ऊंचा वाला वैराग्य है पर वैराग्य उसके आने पर भी समाधि लग जाती है ये वैराग्य बहुत ऊंची चीज है जो अपर वैराग्य है ये भी बहुत ऊंची चीज है और पर वैराग्य उससे भी ऊंची चीज तो योग दर्शन में दो तरह की समाधियां बताई हैं एक संप्रज्ञात समाधि ये नीचे वाली समाधि होती है प्राथमिक समाधि होती है और दूसरी समाधि असंप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात इस नाम से तो अपर वैराग्य जब होता है तो संप्रज्ञात समाधि लगती है नीचे वाली समाधि लग जाती और जब पर वैराग्य होता है तो उससे भी ऊंचे वाली समाधि लगती है जिसे असंप्रज्ञात समाधि कहा जाता है ये योग दर्शन के अनुसार ठीक है इतना आगे हो गया इतना आगे और प्रश्न है इनका इसी में अला और बला शक्तियां क्या हैं इनके बारे में विस्तार से वर्णन वर्णन अगला शब्द विस्तार से वर्णन करो <laughs> प्रश्न पत्र में होता है ना विस्तार से वर्णन करो तो योग दर्शन में ये पतंजलि योग दर्शन उसमें ये शब्द नहीं है व्यास भाष्य में भी अला और बला ये दोनों <laughs> ये दोनों शब्द नहीं है और अला शब्द तो मेरे को और भी तरह से मिला नहीं पता नहीं का, कैसा शब्द मेरे तो सुनने में नहीं आया अला शब्द अला तो नहीं हाँ बला शब्द तो होता है बला अति बला औषधियों का नाम है आयुर्वेद की औषधियों में बला अति बला ये औषधियां हैं पौधे होते हैं छुप छुप होते हैं बल कारक होते हैं औषधियां ली जाती हैं बल्य औषधि है और एक वो भी बला होती है बोले बला टली कोई व्यक्ति आ गया जो <laughs> बहुत बात कर रहा है और हट नहीं रहा है तो हम क्या कहते हैं ये कौन सी बला सिर में ले ली मैंने बला हटी बला चली गई बला हट गई बला टल गई ये बला शब्द तो आपत्ति कष्ट परेशानी इसके अर्थ में आता है ठीक है और एक और लोगों की जो वो कहावत जैसा है मुहावरा बलाएं लेना होता है तेरी बलाएं मुझे लग जाए या या उल्टा है कि मेरी बलाएं तुझे लग जाए क्या बोलते हैं बलाएं लेना होता है बलाएं दी नहीं जाती है आशीर्वाद दिया जाता है और बलाएं ली जाती है तो इसका बला का मतलब कष्ट वही कि तुम्हारे कष्ट मुझे लग जाए तेरी बीमारी मेरे को लग जाए तू बीमारी से मुक्त हो जाए ऐसा जो आशीर्वाद देते हैं बच्चों को बड़ों को या माता पिता को जाए इसकी बलाएं ले ली बला मतलब कोई कष्ट या आफत लेकिन बला शब्द शक्ति के रूप में भी प्रचलित है विश्वामित्र ने ऐसा कहा जाता है विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को एक शक्ति दी थी वो बला शक्ति दी थी इसको एक मंत्र शक्ति के रूप में कहा जाता है मंत्र शक्ति होती है भाई और उससे होता क्या है ऐसा कहते हैं कि योद्धा लोग इस शक्ति का प्रयोग करके बला शक्ति का प्रयोग करने से भूख प्यास से ऊपर उठ जाते हैं उनको भूख प्यास नहीं लगती है जितनी भी देर आजीवन तो क्या कहें लेकिन मान लीजिए युद्ध में गए हुए हैं और घंटों लड़ना है और भूख प्यास लग रही है तो वो ये लड़ नहीं पाएगा तो ऐसी मंत्र शक्ति जिससे भूख और प्यास नहीं लगती है देर तक अपना युद्ध कर सकता है ऐसी कोई शक्ति कहानियों कथाओं में प्रचलित है वो बला शक्ति तो मानी जाती है जिसके प्रयोग से भूख प्यास नहीं लगती है तो मंत्र योग और शक्ति संपन्न ज्ञान को भी बला नाम से कहा गया है शक्ति संपन्न ज्ञान ऐसा ज्ञान जो शक्ति संपन्न हो कुछ विशेष शक्ति उससे होती हो ऐसा प्रचलन में है इस शब्द का बाकी वर्तमान में जो हमारा पतंजलि योग दर्शन है इसमें या अन्य भी दर्शनों में छो दर्शनों में या उपनिषद में मेरी जानकारी में इस तरह का शब्द नहीं आया भला हाँ अक्षय जी ये तेलंगाना प्रांत में नैजाम प्रभाव के कारण आलिंगन जैसे एक त्योहार के ऊपर आलिंगन करते उसको अलाई बलाई अलाई बलाई हाँ। अच्छा इनका कहना है कि निजाम शासन में उधर हैदराबाद की तरफ जो हम हाँ। गले मिलना होता है त्योहारों में एक दूसरे से स्नेह के कारण गले मिलते हैं उसको अलाई बलाई अलाई वो अलग चीज होगी ये केवल अला शब्द इन्होंने लिखा है <clears throat> ठीक है अगला प्रश्न लेते हैं हो गया इतनी है आपका कुछ पूछना है और इसमें इन प्रश्नों में बोलो ये गीता गोरखपुर की जो वाल्मीकि रामायण है हाँ। उसमें ये लिखा था तो ये पूछना था क्या कि सच में सरयू नदी के किनारे जो है संध्या के समय विश्वामित्र जी ने जो है राम तो और लक्ष्मण को ये दो शक्तियाँ दी थी जिससे एक भूख प्यास नहीं लगती हाँ। और दूसरे से थकान नहीं महसूस होती अलाम अला से थकान नहीं लगती और बला से भूख प्यास नहीं लगती हो सकता है मेरे को यानी जानकारी नहीं उसमें क्या वाल्मीकि रामायण में है और इस तरह की कोई शक्ति क्या होती है और जो पहले वाली जो है परावरपरा ये महात्मा आनंद स्वामी अपनी बुक में लिखते हैं कि मैं एक योगी से मिला हिमालय में तो वो जो है ना उनके पास अगर शक्ति थी तो वो अपने शरीर को इतना फुला लेते थे फुला करके अपने गुरु से जो आकाश मार्ग से मिलने जाते वो योगी थे तो इसलिए मैंने ये जो क्वेश्चन की थी देखिए योग दर्शन में तो सिद्धियां तो हैं बहुत सारी लेकिन इस नाम से तो नहीं है अब वो किस नाम से प्रचलित तो मानते हैं हो सकती है हो सकती है मैं, मैं इस विषय में मेरे को और जानकारी नहीं मेरे इसमें नहीं है आगे वास्तु दोष क्या है ये वास्तु दोष शब्द है वस्तु दोष नहीं वास्तु दोष जो जो चलता है तो आजकल टीवी अखबारों में इसके विषय में बहुत सी जानकारी दी जा रही है क्या वेदों में इसके कोई प्रमाण मिलते हैं तो मेरी जानकारी में तो इस तरह का कोई प्रमाण नहीं है वेदों में वास्तु दोष का नहीं वास्तु विद्या का देखो दोनों अलग बात है इनका शब्द था वास्तु दोष ये जो जिस ढंग से आजकल प्रचलन में है ऐसा तो नहीं लेकिन वास्तु विद्या वास्तु का मतलब होता है ये जो वस्तुकारी होती है ये निर्माण निर्माण किया जाता है भवन निर्माण यज्ञशाला निर्माण उसकी विधि वो प्रक्रिया है कि हमारा द्वार किस दिशा में हो भोजनालय किस दिशा में हो जल का संग्रह किस दिशा में हो मलमूत्र आदि किस दिशा में हो यजकुंड यज्ञशाला किस दिशा में हो ऐसा सोने का स्थान कहाँ हो इन सब के लिए कुछ कुछ व्यवस्थाएं की जाती हैं हवा किस तरफ से आ रही है उसको ध्यान में रखते हुए सूर्य किस तरफ है उसको ध्यान में रखते हुए प्रातःकाल सायकाल और ऋतुओं के अनुसार जो परिवर्तन होता है उन सबको ध्यान में रखते हुए हमारे हित के लिए ये कुछ बातें की जाती हैं वहां तक तो ये वास्तु विद्या ठीक है वहां तक लेकिन आजकल जो बहुत इसमें बहुत सारी चीजें चल रही है कि इसके होने से हमारे व्यापार में घाटा होगा नौकरी नहीं लग रही है या घर में झगड़े हो रहे हैं इत्यादि बीमार हो रहे हैं ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें आजकल प्रचलन में है तो वहां उसको दोष को दूर करने के लिए इधर से दरवाजा तोड़वा करके उधर बनवा देते हैं गमला है वहां कुछ वो रखवाएंगे कुछ टेबल फूलदान रखवाएंगे कुछ तोड़फोड़ करके कुछ वहां बनवाएंगे इस तरह का बहुत सा आजकल चल रहा है तो वो दावे उनके बहुत सारे हैं लेकिन आपका जो प्रश्न है कि वेदों में इसकी कोई प्रमाण मिलते हैं तो ठीक है इतना तो वास्तु विद्या तो अपनी वैदिक विद्या है लेकिन वस्तु दोष वास्तु दोष जो चलन है वो अगला प्रश्न है सिखों व मुस्लिम लोगों की अपने अपने पंथ के प्रति दृढ़ आस्था के कारण आस्था के कारण उन्हें कट्टरपंथी कहा जाता है केवल दृढ़ आस्था के कारण उनको कट्टरपंथी तो नहीं कहते कट्टर तो कह देते हैं कट्टर कह सकते हैं कट्टरपंथी ये एक विशेष अर्थ में निंदित अर्थ में प्रचलन में है आजकल ये कट्टरपंथी है यानी आतंकवादी जिसको हम बोलते हैं तो सिख या मुस्लिम जो भी हैं वो कट्टरपंथी हैं जो कि इस तरह का आतंकवाद भारत में रहा है इसे उनको कट्टरपंथी बोलते हैं लेकिन कट्टर शब्द एक अलग है तो कट्टरपंथी कहा जाता है तो ये दृढ़ आस्था के कारण से नहीं कट्टरपंथियों में अपने संप्रदाय के प्रति दृढ़ आस्था हो सकती है लेकिन केवल दृढ़ आस्था होने के कारण कट्टरपंथी नहीं कहा जाता जितने भी सिख या मुस्लिम हैं वो अपने धर्म के प्रति दृढ़ आस्था रखते हैं इसलिए उन सबको कट्टर कट्टरपंथी कहें ऐसा नहीं होता तो आगे कहते हैं क्या वेदों के प्रति दृढ़ आस्था रखने वाले आर्य लोग या तो कोष्ठक में है समाजियों आर्य समाजियों के प्रति कट्टर शब्द का प्रयोग उचित है आर्य समाज में भी बहुत प्रचलन होता है <laughs> एक कट्टर आर्य समाजी है ठीक है अब आपने वैसे शब्द बदल दिया वहां तो शब्द था कट्टर पंथी और यहाँ है कट्टर तो आर्य समाजी को कट्टर पंथी तो नहीं कहते क्या किसी किसी को कह सकते हैं किसी किसी आर्य समाजी को <laughs> लेकिन लेकिन कट्टर तो बोलते हैं और कट्टर का वही अर्थ है जो आपने कहा दृढ़ आस्था रखने वाले तो कट्टर शब्द का प्रयोग क्या उचित है क्या यह शब्द सकारात्मक अर्थ में भी प्रयोग होता है होता है अच्छे अर्थों में किसी के भाई वेद के प्रति ये बहुत कट्टर है ये सत्य के प्रति बहुत कट्टर है ईमानदारी के प्रति बहुत कट्टर है शाकाहार मांसाहार के प्रति बहुत कट्टर है उस घर में ही नहीं जाएगा जिसमें मांसाहार हो या अंडा हो उस कार्यक्रम में और में दुकान में <clears throat> वो जाएगा ही नहीं ऐसे ऐसे ये ये क्या कट्टरता यानी दृढ़ता के लिए आता है कट्टर शब्द तो जो दृढ़ हो जो स्वमत पर अधिक आग्रही हो ये भी निंदित अर्थ में नहीं है अपने मत के प्रति अधिक दृढ़ है यहां तक भी कट्टर है लेकिन फिर उसके बाद में दुराग्रही को भी कट्टर कहा जाता है दुराग्रही ये अब निंदित अर्थ शुरू हो गया चरमपंथी जो होते हैं कट्टरपंथी होते हैं या तो दूसरे शब्दों में कहें दुराग्रही या तो असहिष्णु जो दूसरे को सहन नहीं करते हैं असहिष्णु जो हैं असहिष्णु के लिए जो कट्टर शब्द प्रयोग किया जाता है अब ये भी निंदित अर्थ में अथवा जो अनुदार विचार वाला है उदार नहीं है उदार नहीं है अनुदार है ये भी निंदित अर्थ में है तो असहिष्णु अनुदार और दुराग्रही ये तीन तो निंदित अर्थ में है और वैसे कट्टर का मतलब होता है काट खाने वाला काट खाने वाले को भी कट्टर बोलते हैं <laughs> तो जो ज्यादा कट्टरपंथी होता है वो तो काट खाता है दूसरे को और जो आर्य समाजी भी ऐसा हो दूसरे को काट खाए तो <laughs> ये निंदित अर्थ है अगला प्रश्न ये प्रश्न गुरुकुलों के बारे में कि गुरुकुलों से यद्यपि हम बहुत कुछ सीखते हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं हमारे जीवन में उसका बहुत प्रभाव होता है लेकिन बोले गुरुकुलों के कुछ कटु अनुभव भी होते हैं ठीक है इससे भी कोई मना तो नहीं कर सकता होते कटु अनुभव भी होते हैं कुछ वहां की दुरावस्था अव्यवस्था किसी का कोई व्यवहार ऐसा ये सब भी होता है अथवा यूं लगता है कि किसी व्यक्ति की मानसिकता ठीक नहीं है ये सब होता है तो बोले गुरुकुल में बहुत साल पढ़ने के बाद भी जब ये दोष दिखाई देते हैं तो कई बार बहुत घृणा सी हो जाती है या तो अरुचि हो जाती है गुरुकुल से अब गुरुकुल में पढ़ें या ना पढ़ें गुरुकुल को सहयोग करें या ना करें अथवा आगे गुरुकुल चलाएं गुरुकुल खोलें ना खोलें ठीक है गुरुकुल तो ऐसे होते हैं अब गुरुकुल के से संबंधित हमारी जो आगे की गतिविधि है मान लीजिए हम गुरुकुल से पढ़ के आके अपना धंधा करते हैं नौकरी करते हैं गृहस्थ में जाते हैं तो भाई अब गुरुकुल को सहयोग करूं या नहीं करूं वो कटु अनुभव याद आएंगे तो वो गुरुकुल को सहयोग नहीं करेगा तो बोले तो गुरुकुलों में ये ये दोष है इनको मैं सहयोग करूं या ना करूं ये प्रश्न आ जाएगा अथवा अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजूं या नहीं भेजूं ये भी एक प्रश्न व्यापक प्रश्न है और बहुत अधिक कहा जाता है कि जो गुरुकुल के पढ़े हुए हैं उनमें से बहुत कम लोग अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजते हैं नहीं तो गुरुकुल में अधिकतर ताजा माल आता है फर्स्ट हैंड आता है पहला आता है तो सेकेंड हैंड नहीं आता है तो नए नए परिवारों से गुरुकुल में आते हैं अधिकतर ऐसा होता है तो गुरुकुल में जो ये होता है तो ऐसा करें या ना करें अथवा कोई बहुत भावना वाला है गुरुकुल में पढ़ा भी है और भाई ये भी हो सकता है कि मैं गुरुकुल चलाऊं ये भी तो हो सकता है लेकिन गुरुकुल के दोष भी उसे दिखाई देते हैं कुछ तो उसे लगेगा कि मैं गुरुकुल को चलाऊं या नहीं चलाऊं मैं अपना जीवन गुरुकुल चलाने में लगाऊं या नहीं लगाऊं और उसके मन में ये भी आ सकता है कि अच्छा सकारात्मक हो तो सकारात्मक सोच हो सकता है कि अच्छा गुरुकुल में ये ये कमियां थी मैं गुरुकुल चलाऊंगा उसमें ये कमियां नहीं रहने दूंगा ऐसा भी सोच सकता है पर फिर मन में ये भी विचार आता है कि भाई आज की सामाजिक स्थितियां राष्ट्रीय स्थितियां लोग बाग जुड़ते हैं गुरुकुलों से अब अकेले तो गुरुकुल चला नहीं सकते एक अकेला व्यक्ति क्या गुरुकुल चलाएगा और कितना चलाएगा इसके लिए मकान भी चाहिए व्यवस्था चाहिए पैसा चाहिए पढ़ाने वाले चाहिए बच्चे भी हैं वो भी आएंगे लोगों का भी आना जाना होगा हमें भी जाना होगा कहीं कार्यक्रमों में प्रचार में इत्यादि तो लोक व्यवहार तो रहता ही है मिलना जुलना तो समाज ऐसा है कि जो दोष मैं अभी गुरुकुलों में देख रहा हूं वो के वो दोष कहीं मेरे मैं अगर चलाऊं उन दोषों से रहित मुक्त गुरुकुल सोच करके कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मैं भी चलाऊं और उसमें भी ये के ये आ जाए इस बात की क्या निश्चितता क्या गारंटी कि मैं गुरुकुल चलाऊंगा उसमें ये दोष नहीं आएंगे हो सकता है ना ये भी मन में एक प्रश्न आ जाता है तो हो सकता है नहीं मैंने ये दोष देख लिया और मैं ये दोष नहीं आने दूंगा बिल्कुल और कई बार वो दोष नहीं आते हैं तो कोई दूसरे आ जाते हैं ये भी होता है अब सब गुरुकुल एक जैसे तो नहीं होते कहीं कोई कमी है कहीं कोई दोष है कहीं कोई दोष है तो मैं जो गुरुकुल चलाऊंगा उसमें पता नहीं कौन सा दोष होगा या कोई नया हो और फिर इतने साल गुरुकुल में पढ़े पढ़ के आए अब घर वालों के प्रति भी तो कुछ कर्तव्य होते हैं इतने साल गुरुकुल में पढ़े घर वालों को भी कुछ है घर की स्थिति ऐसी है तो अब क्या करें घर के लिए सहयोग करें अथवा गुरुकुल चलाने में लग जाए फिर ये भी एक समय ये प्रश्न का सार है इस तरह के कई प्रश्न गुरुकुलों के बारे में इसमें गुरुकुल वालों से भी सहयोग लेंगे पहले तो एक ये सोचना चाहिए कि गुरुकुल में क्या दोष दिखाई दिए क्या कमियां रह गई गुरुकुल में और गुरुकुल के लाभ क्या हैं जो जो है वो वास्तविकता से हमने देख लिए अच्छा गुरुकुल का विकल्प क्या है गुरुकुल का विकल्प आधुनिक विद्यालय आधुनिक शिक्षा पद्धति ये गुरुकुल का विकल्प है गुरुकुल एक शिक्षा पद्धति है तो आधुनिक विद्यालय शिक्षा पद्धति अंग्रेजी के और अथवा आधुनिक ढंग के आधुनिक विषयों को पढ़ाने वाले वो विकल्प है तो उनमें क्या कोई दोष नहीं है वो बिल्कुल अच्छे हैं अच्छा अगर वहां भी दोष है यहां भी दोष है तो कहां दोष नहीं है कहां दोष नहीं हो सकते मनुष्य है करता है कहीं कम या अधिक हो सकते हैं दोष और हमारे गुरुकुल तो अधिकतर अभावों में रहते हैं अधिकांश गुरुकुलों में एक होता है आधुनिक विद्यालय जहां बहुत संपन्नता होती है माता पिता बहुत पैसे वाले होते हैं बहुत शुल्क लेते हैं वो दस हजार बीस हजार चालीस हजार एक एक महीने के लाख लाख भी होते हैं एक एक महीने के और गुरुकुलों में कितने गुरुकुलों में एक हजार रुपए मासिक खर्चा एक हजार केवल एक हजार जिसमें बहुत सारा तो दान से आता है गेहूं और कुछ तो चल जाता है एक हजार रुपए डेढ़ हजार रुपए कहीं दो हजार रुपए पांच हजार वाला कोई गुरुकुल देखा होगा क्या सुना होगा कि पांच हजार शुल्क लिया जाता है गुरुकुलों के अध्यापक लगभग निशुल्क पढ़ाते हैं बहुत कम है अपना काम चलाते हैं और कुछ नहीं वेतन नहीं लेते इतना विद्यालयों के देखिए सरकारी में तो आजकल मेरे ख्याल से है तीस चालीस और कॉलेज की तो बात ही छोड़ दो आजकल लाख और लाख से ऊपर भी जा रहा है वेतन और खर्चे कितना और गुरुकुलों को कैसे चलाना पड़ रहा है तो एक तो उन संसाधनों को भी देखते हुए कुछ कमियां गुरुकुल में क्यों होती हैं संसाधनों की कमी से होती है अभाव से होती है और जब संसाधन कम होते हैं थोड़ी खींचतान के चल रहा होता है जैसे तैसे चल रहा होता है तो सामान्यतया एक तनाव रहता है व्यक्ति में एक परिवार ऐसा होता है जहां आराम से जीवन चल रहा है खाने पीने के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ रहा और एक परिवार होता है जहां सोचना पड़ता है खर्च करो तो थोड़ा सोचना पड़ता है बहुत सी जगह अपने को रोकना पड़ता है आवश्यकता को होने पर भी पैसा ना होने से हम उपयोग नहीं ले सकते इलाज नहीं करा सकते और कोई चीज नहीं ले सकते एक तनाव होता है व्यक्ति को और उसमें कुछ संघर्ष कुछ व्यवहार की में क्षोभ असहनशीलता ये कुछ चीजें बन जाती हैं कुछ चीजें तो एक तो ये अभावों के कारण से गुरुकुलों में कमियां दिखाई देती हैं भाई उतने अच्छे बिस्तर नहीं है उतने अच्छे कमरे नहीं है साफ सफाई नहीं है बर्तन उतने अच्छे नहीं है भोजन उतना अच्छा नहीं है इत्यादि ये तो भौतिक चीजों का है इसका संबंध अधिकतर धन के साथ में दूसरा है एक व्यवस्था का एक व्यवस्था होती है मकान रहन सहन और इन चीजों की व्यवस्था और एक होती है ब्रह्मचारियों की बच्चों की व्यवस्था अनुशासन तो भाई ये आधुनिक विद्यालयों में अन्य व्यवस्थाएं कुछ अधिक हो सकती हैं कुछ विद्यालयों में लेकिन अनुशासन की व्यवस्था गुरुकुलों में अधिक अच्छी रहती है बहुत अच्छी रहती है सामान्य विद्यालयों से और अगर आप भारत के विद्यालयों की बात करें गांवों के और निर्धन क्षेत्रों के विद्यालयों की तो कितने विद्यालय हैं जहां साल भर में गिनी चुनी कक्षाएं नहीं तो कक्षा ही नहीं होती है अध्यापक ही नहीं आते गुरुकुलों में अध्यापक तो आते हैं पढ़ाते तो हैं पढ़ाए ठीक है कार्य भी होते हैं गुरुकुल के कभी उत्सव हो रहा है कभी बाहर जाना होता है इत्यादि कार्य होते हैं गुरुकुल के लेकिन उनमें भी हमें सीखने को मिलता है लेकिन एक पठन पाठन गुरुकुल में चलता है एक व्यवस्था रहती है दूसरा व्यवहार की जो समस्या आती है परस्पर तो हम हमें क्या लगता है कि गुरुकुल वाले ज्यादा खराब हैं कईयों को ऐसा लगता है और जो बाहर वाले हैं वो अच्छे हैं ऐसा अनुभव में आता है व्यवहार में दिखने में आता है जहां विद्यालयों में हम केवल कुछ घंटों के लिए जाते हैं पढ़ने के लिए और तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कुछ से हमारा मिलना जुलना होता है बाकी से बस नमस्ते और देख लिया और प्रसन्न हो गए बस इतना ही संबंध रहता है एक दूसरे से अधिक लेन देन नहीं होता है हमारा खाना पीना रहना उठना बैठना सामान्य बस विद्यालय में आए गए उठ गए तो वहां उनके साथ संघर्ष की स्थिति या टकराव की स्थिति नहीं बनती है बहुत कम बनती है तो सामान्यतः ठीक ठाक चलता रहता है गुरुकुल में हम चौबीसों घंटे साथ रहते हैं पूरे दिन भर हम साथ रहते हैं उठना बैठना बहुत सारी चीजें हमारी साथ में रहती हैं और चूंकि अनुशासन भी होता है इसने उसको कर दिया कुछ हो गया ये हो गया सूचना की दंड मिला ये हुआ इस बहुत सारी चीजें भी होती हैं साथ में तो स्वाभाविक है तो इसलिए परस्पर कुछ टकराव की स्थिति अधिक बनती है क्योंकि हम साथ साथ अधिक रहते हैं नहीं तो स्कूल कॉलेजों में भी क्या क्या होता है महाविद्यालयों में खासतौर से विद्यालयों में भी गुटबाजियां हो जाती हैं झगड़े होते हैं मारपीट होती है शिक्षकों को पीट देते हैं वो भी होता है और विद्यार्थी आपस में बहुत झगड़ लेते हैं चोरियां भी होती हैं वस्तुएं चोर लेते हैं ये बहुत सारी चीजें वहां पर भी होती हैं लेकिन तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो गुरुकुलों में ये कम होती है अब जिन्होंने गुरुकुल का ही रूप देखा है विद्यालयों का रूप नहीं देखा है बाहर कितनी विकृत और विभत्स स्थिति भी है उन्हें लगता है कि भी गुरुकुल तो खराब से है ये दोष तो है क्योंकि हमें पता है दोष तो है और बाहर वो बड़े अच्छे दिखाई देते हैं सजे संवरे बाल अच्छे और बूट और अच्छा सब कुछ बोलना चलना जो व्यवहार होता है शिष्टाचार कहें एटिकेट्स या इसको बोलते हैं मैनर्स यानी इस तरह की जो कुछ चीजें होती हैं वो लगता है कि और फिर उनकी नौकरियां भी लग जाती हैं बड़ी बड़ी कईयों की कोई वो इंजीनियर बन गया कोई डॉक्टर बन गया कोई उस पथ पे चल गया तो लगता है कि इनकी तो ये बहुत प्रगति हो गई और गुरुकुल वाला तो इन स्थितियों में है कम ही जा पाता है अब इंजीनियर डॉक्टर कहां से बनेगा गुरुकुल वाला उसकी पढ़ाई अलग तरह की है तो लगता है जैसे ये कुछ पिछड़ा रह गया ये तो हम ये तो बन ही नहीं सकते ऐसा लगेगा तो थोड़ा सा हीन भावना लगती है कि हम थोड़े पिछड़े हैं पीछे हैं ये बात होती है अगर गुरुकुलों का और आधुनिक विद्यालयों का आकलन जब हम करते हैं तो आधुनिक विद्यालय मतलब हम अच्छे अच्छे विद्यालय देखते हैं आधुनिक विद्यालयों में जो पिछड़े हुए उनको नहीं देखते हैं वहां पर और गुरुकुल तो खैर जैसे हैं थोड़े से उनको देखते हैं और उधर वो अच्छे देखते हैं धन का मैंने आपको बताया ही और विद्यालयों में और गुरुकुलों में जो मूल द्रव्य आता है मूल द्रव्य मतलब कच्चा माल रॉ मेटीरियल जो आता है उसको देखो कितने माता पिता हैं जो अपने अच्छे बच्चों को गुरुकुल भेजते हैं उन माता पिताओं की बात कर रहा हूं जो अपने बच्चों को गुरुकुल भी भेजते हैं और आधुनिक विद्यालय में भी भेजते हैं ऐसे माता पिता को देखो कितने माता पिता ऐसे हैं जो अपने अच्छे बच्चे को गुरुकुल में भेजते हैं और जो हल्का है उसको आधुनिक विद्यालय कोई कोई गिना चुना होगा होंगे अभाव नहीं पूछे जो अपने सब बच्चों को भी गुरुकुल में भेजते हैं कोई एक को भी नहीं भेजता और बहुत सारे तो गुरुकुलों में होते हैं जो खुद भाग करके आते हैं वो तो भेजे नहीं गए होते वो तो अच्छे सभी तरह के होते हैं वो लेकिन अधिकांश गुरुकुलों में जो होता है पढ़ाई करके उन बच्चों को भेजा जाता है जिनको माता पिता संभाल नहीं पा रहे उसको गलत अर्थों में कहूं गलत शब्दों में कहूं तो जो जो निकम्मे या तो दुष्ट बच्चे होते हैं उनको भेजा जाता है वैसे ये भी गुरुकुल की प्रशंसा है या निंदा है प्रशंसा एक तो यू कहूं कहे कि भी गुरुकुलों में तो फिर तो सबसे खराब बच्चे आते हैं माता पिता अपने खराब बच्चों को भेजते हैं इसलिए गुरुकुल खराब है अच्छा माता पिता अपने खराब बच्चों को गुरुकुल में क्यों भेजते हैं गुरुकुल में क्यों भेजते हैं और कहीं नहीं सुधर सकता ये हमारे से तो हमारे तो हाथ में है नहीं है बच्चा बिगड़ गया या तो हमारी तो सुनता नहीं है गुरुकुल में ये सुधरेगा तो सुधार की आशा से भेजते हैं ना ऐसे माता पिता यानी सुधा ये गुरुकुल का गुरुकुल का एक अच्छा स्वरूप है ना हम सकारात्मक भी तो देख सकते हैं कि वो स्थल है जहां ऐसे दुष्ट बच्चे भी आकर के सीख जाते हैं अनुशासित हो जाते हैं क्योंकि गुरुकुल का अनुशासन अधिक है कठोर भी है वहां दंड भी दिया जाता है देखभाल होती है जैसा भी आप उसको शिथिलता भी कहो शिथिलताएं होते हुए भी वहां की बजाय तो यहाँ है वहां तो कोई नियंत्रण नहीं है आजकल जो चलता है बहुत कम नियंत्रण रहता है गुरुकुल में नियंत्रण रहता है दिनचर्या में सतता है तो ये तो गुरुकुल के लाभ है अच्छा बाहर के लोगों को कई बार हम अधिक प्रसन्न और अधिक हितकर और ये सब समझते हैं जिन व्यक्तियों से हमारा बहुत थोड़ा संपर्क है उनको हम कैसा समझते हैं जिनसे हमारा बस थोड़ा सा संबंध है मान लीजिए सुबह उठ के घूमने जा रहे हैं बाग में आमना सामना हो जाता है नमस्ते जी ठीक है सप्ताह में दो चार बार आमने सामने हो जाते हैं या प्रतिदिन मिल जाते हैं या शाम को घूमने बैठ गए कहीं पार्क में और कहीं आते जाते हैं नौकरी पे जाते हैं वो या आजकल बसों में जाते हैं बसों में जाते हैं तो बसों में जाते हैं तो मिलना जुलना हो जाता है बस स्टॉप पे खड़े मिल जाते हैं कभी साथ साथ चढ़ते हैं करते हैं थोड़ा इतना बस फिर वो कहीं जा रहा है वो कहीं जा रहा है तो थोड़ा सा होता है और थोड़े में हंसना मुस्तना ये सब होता है थोड़ा सा निकटता जहां आती है ना <clears throat> असली परीक्षा वहां होती है कि दूसरा व्यक्ति कैसा है और हम हमारे कैसे उससे संबंध निभ पाते हैं तो गुरुकुलों में है दोष पर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय संस्कृति की दृष्टि से ये अपेक्षाकृत जाता है हाँ नौकरी की बात में तो पिछड़े हुए हैं नौकरी की बात में तो पिछड़े हैं गुरुकुलों में भी दो तरह के गुरुकुल हैं एक आर्ष पद्धति वाले और एक अनार्श वाले हैं और उसको भी आर्च को भी दो भागों में करें एक परीक्षा पद्धति वाले और एक परीक्षा पद्धति अर्थात महाविद्यालय विश्वविद्यालय या तो शिक्षा बोर्ड जो होते हैं राज्यों के उनसे संबद्ध सरकारी परीक्षाएं देने वाले दिलाने वाले ऐसे आर्ट्स वाले होते हैं और कुछ होते हैं जो अंदर ही अंदर परीक्षा जो अपनी चलती है लेकिन सरकारी कोई परीक्षा नहीं चलती वो भी आर्ष होता है अब इनमें भी गुरुकुल का सच्चा स्वरूप सही स्वरूप कौन सा है ये फिर विचार नहीं गुरुकुल के नाम से तो बहुत है अब गुरुकुल के नाम से तो आजकल के विद्यालय भी चलते हैं विद्यालयों को भी गुरुकुल नाम से आजकल बोला जाता है क्योंकि गुरुकुल शब्द एक अच्छा। सम्मानित शब्द या अपमानित शब्द सम्मानित शब्द गुरुकुल नाम क्यों रखा उन्होंने गुरुकुल नाम क्यों रखा अच्छा। ईसाई लोग भी रख लेते हैं और आधुनिक जो भी अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के हैं वो भी गुरुकुल नाम रख लेते हैं आधुनिक बिल्कुल आधुनिक विद्यालय जैसे चलते हैं प्रचलित उनके भी गुरुकुल नाम होते हैं एक गुरुकुल नाम की फिल्म भी आई थी एक गुरुकुल की गुरुकुल गुरुकुल नाम से फिल्म भी आई थी लेकिन वो इस गुरुकुल की बात नहीं थी उसमें <laughs> हमारे इस गुरुकुल की बात नहीं थी वो आधुनिक ही गुरुकुल था आधुनिक शिक्षा पद्धति में प्रारंभ में काफी दूर तक अनेक विषय पढ़ाए जाते हैं और उसको पढ़ करके व्यक्ति अपने अपने काम में लग जाता है फिर उसको व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है आजकल वो आजकल बहुत जोर दिया जाता है उसको ये पढ़े ताकि नौकरी पे लग जाए धंधे में कुछ काम काज या हुनर आ जाए और कमाने खाने लगे अपना जीवन चलाएगा और उसको अच्छा भी माना जाता है एक पद, एक शिक्षा पद्धति होती है व्यापक वाली वो पढ़ता है पूरा व्यवसाय की दृष्टि से नहीं विषय को पढ़ता है पहले ऐसा ही पढ़ाई होती थी अधिकतर फिर यो कहने लगे कि ये इतना सारा पढ़ते हैं काम तो आता ही नहीं है जीवन में बस पढ़ लिया परीक्षाएं उत्तीर्ण की जीवन तो कुछ और ढंग से चल रहा है जीवन में काम ही नहीं आ रही है तो केवल उतना ही पढ़ाया जाए ना जो जीवन में काम आता हो और नौकरी पे लगे वो आजकल बहुत इतने इंजीनियरिंग कॉलेज और ये सब बहुत हो गए आज पहले तो बहुत मुश्किल था आजकल के आंकड़े भारत के भारत में शिक्षक बहुत हैं यानी इंजीनियर बहुत हो गए ये बहुत हो गए इतने युवा पीढ़ी है लेकिन अभी एक आंकड़ा आया भारत की क्या स्थिति है भारत के 10 इंजीनियर में से तीन या चार ही योग्य होते हैं बाकी अयोग्य हैं उच्च जगह पे उनको नौकरी नहीं मिल सकती क्योंकि इतने इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए व्यक्तिगत और सरकारी की वहां पढ़ाई नहीं होती वो स्तर ही नहीं है उनका इंजीनियर तो बन गए इंजीनियर का स्तर नहीं है एमबीए की और भी ज्यादा हालत खराब है एक आंकड़ा भी आया था भारत के 10 एमबीए में से कितने छह सात तो क्यों ही सामान्य भटक रहे हैं एमबीए जैसी कोई नौकरी नहीं और एक एमबीए बहुत बड़े बड़े होते हैं जो लाखों रुपए महीने के होते हैं दस लाख बीस लाख सत्तर साठ लाख रुपए साल के पैकेज पे जाते हैं जो करोड़ के पैकेज पे जाते हैं इतने वो भी एमबीए होते हैं लेकिन हर कोई एमबीए तो ऐसा नहीं अब हर जगह एमबीए होने लग गया हम्म। छोटी छोटी नौकरी करने वाले रहते हैं योग्य ही नहीं होते वो एमबीए के लायक ही नहीं होते ये जो व्यावसायिक शिक्षा है जीवनोपयोगी तो देती है लेकिन इतना ज्यादा हो गया कि आजकल उसका भी महत्व तो रहा नहीं होता और इसको जो पढ़ता है उसको बस सामान्य ज्ञान ही होता है उसका स्तर कहां तक रहता है तो एक सीमित स्तर ये काम करना है और बस आगे कुछ नहीं किसी विषय में गंभीर जाना व्यापक रूप से जाना ये उनमें नहीं होता है आजकल विज्ञान के क्षेत्र में भी साइंस में भी आधुनिक शिक्षा है जो ये प्रोफेशनल्स जाते हैं अलग अलग छोटे छोटे कोर्स करके कोई ऐसा पाठ्यक्रम करके आया उसको महत्व नहीं दिया जाता है उसकी वो गरिमा नहीं है एक वो व्यक्ति होता है जो विषय को पूरा पढ़ के और छोर एक निकलता है उसकी गरिमा होती है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए ये जो व्यवसायिक छोटे मोटे कोर्स करके निकलते हैं नोबल पुरस्कार ले लो कॉलेज के प्रोफेसर ले लो संसार के वरिष्ठ वैज्ञानिक ले लो उनमें शायद ही कोई एक मिले यहां पर एक दो प्रतिशत मिले नहीं तो कोई नहीं मिलता है ये एक अलग स्तर है जीवन का कि जहां हम जीवन की सामान्य बातों को जान करके अपना जीवन चलाते हैं जीवन चलाते हैं बस ये जीवन का उत्कर्ष नहीं है और आज के जमाना आज का जमाना तो विशेषज्ञता का जमाना चिकित्सक इंजीनियर सब क्षेत्रों में विशेषज्ञ होता है इस विषय का विशेष जानने वाला उसकी कीमत है आज किसकी कीमत है सामान्य रूप से जो बहुत चीजों को जानता है उसकी आज कीमत है या विशेष को जानने वाले की jack of all master of none master in none या मास्टर ऑफ नन जो भी शब्द हो बहुत सारी चीजों को जानता है छोटी छोटी चीजों को लेकिन विशेष मास्टर किसी में भी नहीं है विशेषज्ञ किसी में नहीं है आज का जमाना विशेषज्ञता का जमाना है तो जो हमारे गुरुकुल आज चल रहे हैं उसमें से कौन से गुरुकुल विशेषज्ञता वाले हैं आर्ष पद्धति वाले और आर्ष में भी बिना परीक्षा पद्धति वाले हैं वो विशेष वाले उसको हम अंग्रेजी शब्द बोले तो ज्यादा अच्छा लगता है <laughs> गुरुकुल को महिमा मंडी जहां इंटेंसिव कोर्स होता है इंटेंसिव हाँ, एक विषय पर गंभीर अध्ययन किया जाता है और छोड़ अब हमारे यहाँ आते हैं तो बोले जी अब आलोचना में तो आलोचना भी कर लो आप जी बस एक ही कक्षा लगती है गुरुकुल में तो अब जैसे हम लोग कराते हैं अब ये शिक्षण वाले बोले जी कितनी कक्षा लगती है बोले जी एक ही कक्षा लगती है अब लोगों को समझ में नहीं आया ये गुरुकुल कैसा जहाँ एक ही कक्षा लगती है <laughs> एक ही कक्षा लगती है अब वहां तो कम से कम छह या आठ पीरियड लगते हैं यानी पौन पौन घंटे के एक एक के हो तो छह लगते हैं या आठ लगते हैं इतने पीरियड तलांश लगते हैं और पढ़ाने वाले भी पढ़ाने वाले भी अध्यापक लोग होते हैं जो प्राथमिक कक्षा वाले उनको कहते हैं कि सप्ताह में कितने छह छह सत्य बयालीस या अड़तालीस पीरियड कालांश पढ़ाने होते हैं और जो सीनियर टीचर होता है उसको कम पढ़ाने पड़ते हैं उनको 36 या 24 ऐसे पढ़ाने पड़ते हैं और जो कॉलेज में प्रोफेसर होता है उसको कितने पढ़ाने पड़ते हैं <laughs> सप्ताह में छह दिन में मैं तो दो दिन या एक दिन की तो छुट्टी हो गई पांच दिन या चार दिन वो पढ़ाएगा पांच दिन पढ़ाएगा या छह दिन पढ़ाएगा तो कहीं नौ कालांश कहीं बारह कालांश यानी रोज दो भी नहीं और कहीं कहीं ऊपर होते हैं तो सप्ताह में केवल तीन कक्षाएं मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर और ये कक्षा में सप्ताह भर में केवल तीन चार ही कक्षाएं बाकी वो चिकित्सा भी करते हैं वो भी काम है खैर तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं कक्षाएं भी कम होती हैं और पढ़ाने वाले की भी कक्षाएं कम हो जाती है गुरुकुल में व्याकरण विषय जो आर्ष पद्धति वाले बिना परीक्षा वाले गुरुकुल है वहां एक विषय पे उसको केंद्रित किया जाता है व्याकरण है तो व्याकरण प्रारंभ से लेकर के ऊपर तक अब दुनिया का कोई विश्वविद्यालय है जहां महाभाष्य पूरा पढ़ाया जाता है दुनिया का कोई विश्वविद्यालय वो आर्ष गुरुकुलों में पढ़ाया जाता है ये हमारी दुर्लभता है और महावाश्य छोर है और से छोर अष्टादही से लेकर के और उसका पूरा जितनी भागदौड़ करनी है <laughs> व्याकरण की पूरी और वाक्य पदी हो तो वो भी दुनिया का कोई विश्वविद्यालय हो जहां ये पढ़ाया जाता हो ये आर्ष पद्धति के गुरुकुल वो भी बिना परीक्षा वाले परीक्षा वालों में फिर वही एक थोड़ा थोड़ा थोड़ा सा विषय रहता है दर्शन दुनिया के किस विश्वविद्यालय में एक दर्शन पूरा पढ़ाया जाता है योग दर्शन तो पूरा दर्शन और व्यास भाष्य सहित गिने चुने होंगे कहीं कहीं थोड़े बहुत और सारे दर्शन तो सांख्य दर्शन भी वैशेषिक दर्शन भी जो दर्शन में एम करते हैं दर्शन शास्त्र के विभाग हैं वहां भी क्या पढ़ाया जाता है योग दर्शन का जैसे पाठ्यक्रम में मेरे ख्याल से शास्त्री में योग दर्शन पूरा आ जाता है क्या एक बात फिर दूसरा बात तीसरा ऐसे पूरा आ जाता है सांख्य दर्शन कुछ कुछ आते हैं भाग आते हैं न्याय दर्शन का कुछ भाग आ जाएगा पहला अध्याय आ जाएगा भाई सारी चीजें बस आ गई पहले अध्याय में परिभाषा लक्षण आदि सारी परिचय महाभाष्य पढ़ाया जाएगा तो एक शुरू का बस एक परिचयात्मक या थोड़ा बहुत और कहीं मीमांसा दर्शन पढ़ाया जाएगा तो अर्थ संग्रह पढ़ाएंगे वही मीमांसा के नाम से चलेगा सांख्य दर्शन तो सांख्यकारी का सांख्य दर्शन के नाम से चल रही है न्याय दर्शन न्याय मुक्तावली या कुछ वो चीजें पढ़ाते हैं या पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा पढ़ाते हैं तर्क संग्रह तर्क भाषा ऐसे कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें पढ़ाते हैं मूल को पढ़ना जो ऋषियों ने लिखा है मूल ग्रंथ को पढ़ना उसके लिए फिर अंग्रेजी शब्द में बोलूं तो ज्यादा समझ में आएगा <laughs> ज्यादा महिमा मंडित होगा ये बात है और मैं शब्द भी हो सकता है गलत बोल दूं एक तो होती है टेक्स्ट बुक और दूसरी होती है पास बुक और एक और क्या होती है, है? क्या इजी नोटबुक अच्छा वो और भी और भी आसान होती है एक नहीं टेक्स्ट बुक सबसे ऊंची होती है क्या टेक्स्ट बुक तो पाठ्यक्रम की होती है नहीं एक जो रेफरेंस बुक रेफरेंस बुक्स जो होती है संदर्भ ग्रंथ जो होते हैं एक व्यक्ति पास बुक से पढ़ता है एक व्यक्ति टेक्स्ट बुक से पढ़ता है वो फिर भी अच्छा है और एक व्यक्ति रेफरेंस बुक्स भी देखता है उससे संबंधित विशेषों की विशेषज्ञों की संदर्भ ग्रंथ देख देख करके पढ़ता है और ये ऊंची कक्षाओं में किया जाता है गुरुकुलों में कैसे पढ़ते हैं संदर्भ ग्रंथों को देख देख के पढ़ते हैं किस स्तर की पढ़ाई होती है आज विश्वविद्यालय के स्तर पर आप दर्शनों की दृष्टि से देख लो व्याकरण की दृष्टि से देख लो दुनिया का कोई विश्वविद्यालय आपको नहीं मिलेगा जहां इस स्तर की पढ़ाई कहती हो ये वास्तविकता में व्यक्तिगत स्तर पर ऐसा चल रहा है विश्वविद्यालयों में ऐसा नहीं चलता आजकल वहां स्थिति नहीं है तो आज के परिप्रेक्ष्य में एक विषय का विशेषज्ञ भले ही एक विषय का हो वो अधिक पूज्य होता है आदरणीय होता है या छोटी मोटी बहुत सारी चीजें जानने वाला एक विषय वाला अन्य विषयों के विशेषज्ञ उसके पास आकर के बैठेंगे सीखेंगे वो अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं ये अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं वो आके पूछेंगे मिलेंगे इससे समय पड़ने पर उसी को पूछा जाएगा वो वो जो अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं जो जो सामान्य सामान्य चीजें जा, जानता है जो प्रोफेशनल कोर्स करके और टेक्निकल कोर्स करके और काम करने लग गया है अपनी नौकरी धंधा उसके पास जाके कोई पूछता है विशेषज्ञ दूसरा नहीं जाएगा गुरुकुलों के विद्यार्थी गुरुकुल में रहते हुए क्योंकि बाहर की चमक दमक ज्यादा देखते हैं वो अपने आप में कुछ हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं उन्हें भान नहीं कि हमारे अंदर कस्तूरी छिपी हुई वो इधर उधर जाते हैं महत्व का पता नहीं है तो कुल मिला के आज के परिप्रेक्ष्य को भी हम देखें तो विशेषज्ञता की पूछ है विशिष्ट पाठ्यक्रमों की पूछ है आर्ष पद्धति के बिना परीक्षा वाले गुरुकुलों में विशेष विषय पढ़ाए जाते हैं अलग अलग बहुत सारे विषय नहीं हाँ आज के जमाने के हिसाब से कुछ चीजें करनी होती हैं तो करनी पड़ती हैं वो होनी चाहिए कुछ चीजें वो बाद में भी हो सकती हैं एक भाषा का हमारे को बहुत रहता है चूंकि आज की महिमा मंडित भाषा अलग है लेकिन संस्कृत का अपना गौरव अलग है जो भाषा शास्त्री हैं भाषा के विषय में जो जानते हैं उनके मन में पूछो कि संस्कृत भाषा जानने वाले की क्या पूछे ये जो हम भाषा जानने वाले कहते हैं ये तो बोलचाल की छोटी मोटी भाषा बोलते हैं थोड़े बहुत शब्द से अपना काम चलाते हैं ये कोई भाषा का है क्या जान अब हिंदी बोलने वाला गांव का भी बोल रहा है अनपढ़ व्यक्ति वो कोई भाषा का जानने वाला है क्या वो एक सामान्य व्यवहार वाली भाषा है उसकी उतने में उसका जीवन चल जाता है लेकिन भाषा शास्त्र की जहां बात आएगी वो मातृभाषा वाला भी अधिकारी नहीं है उस शास्त्र की गंभीरता से जो जानता हूं ये जो थोड़े कुछ अंग्रेजी बोलते हैं आज बहुत थोड़े थोड़े शब्दों को लेके बोल लेते हैं हमें लगता है कि अंग्रेजी जानते हैं यानी अंग्रेजी क्या क्या और छोर जानता है वो हम किसी एक भाषा पे विशेष अधिकार करके चल रहे हैं और ये हमारी प्रवृत्ति बनाता है गुरुकुल गंभीर और विस्तृत अध्ययन की शैली विकसित कर देता है व्यक्ति को और जो एक क्षेत्र में गंभीर और विस्तृत जा सकता है जाता है समय पड़ने पर वो दूसरे क्षेत्र में भी घुसेगा तो वो गंभीर और विस्तृत ही जाएगा वो थोड़े से में संतुष्ट होगा ही नहीं वो टिक नहीं बैठ सकता वो दूसरे विषय में कहीं जाएगा तो फिर विस्तार ही देखेगा नहीं इतने से काम नहीं चलेगा उसके मन में प्रश्न उठेंगे ये पुस्तक देखेगा वो देखेगा दूसरों को लगेगा ये बेचैन है कुछ इधर उधर जा रहा है लेकिन जिज्ञासा है वो जाएगा सीखेगा और वो वहां भी विकास को प्राप्त करेगा हाँ, ये अपनी अपनी क्षमता है कि हम एक विषय में विस्तृत अध्ययन करते हैं दूसरे तीसरे में कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं हम समय देते हैं योग्यता है हमारी ये अलग बात है लेकिन चाहे तो जा सकता है वो मीमांसा दर्शन किस विश्वविद्यालय में पूरा पढ़ाया जाता है जो मीमांसा के पढ़ाने वाले हैं वहां पर भी नहीं है आप गुरुकुल में अभाव नहीं कह सकते वो आएगा तो गुरुकुल के क्षेत्र में आप उसको महाविद्यालय में नहीं डाल सकते गुरुकुल गुरुकुल एक समय था जब गुरुकुल निंदित अर्थ में ज्यादा जाना जाता था आज से 10-20 साल पहले 30 साल पहले आज नहीं है आज उतना निंदित नहीं है गुरुकुल का पढ़ा हुआ हजारों लाखों लोगों को अपने पीछे चला सकता है चला रहे हैं वो अपने मन से बहुत बार गुरुकुल को बोलते हैं हाँ, गुरुकुल गुरुकुल एक छवि एक अच्छी छवि लोगों के मन में गुरुकुल की जाती नहीं उसका कुछ अस्तित्व है वहां से भी कोई व्यक्ति निकल सकता है तो गुरुकुल में 10, 20, 50 हैं दोष जितने हैं खूब हैं मना नहीं करते उसके किसमें नहीं है दोष दोष होना ये अपने आप में कोई हीन भावना की बात नहीं है हाँ कह सकते हैं आदमी गलतियों का पुतला है मनुष्य गलती का गलती, गलती का पुतला है कहानी होती है गलती पर जब हम तुलना करें तो दोनों को देख करके तुलना करें मैं अभी वहां जोधपुर गया था तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सत्येन, सत्येंद्र सिंह जी सत्यपाल सिंह जी मुंबई मुंबई हाँ मुंबई के अभी कमिश्नर है पुलिस कमिश्नर वो पहले पूना में कहा थे फिर ये आतंक घटना हो गई थी और तो फिर उनको मुख्यमंत्री ने वहां का बुलाया अभी सबसे बड़े वहां वो जोधपुर में आए थे कार्यक्रम था उसमें उनका शाम को प्रवचन था बहुत सारी बातें उन्होंने बताई वो बताते हैं ऐसी बहुत सारी बातें बताई उसमें एक बात उन्होंने ये बताई उसमें कहा उन्होंने संस्कृत पढ़ने वाला गुरुकुल शब्द नहीं था लेकिन संस्कृत पढ़ने वाले गुरुकुल वाले और बोले गुरुकुल का भी शायद उन्होंने कहा था बोले मैंने कभी नहीं सुना या अखबार में नहीं पढ़ा कि गुरुकुल में पढ़ने वाले ने आत्महत्या की हो और आधुनिक में डॉक्टर इंजीनियर एमबीए जिनको हम प्रबुद्ध कहते हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जो जो भी हैं आईआईटी के जो भी इंजीनियर सारे हैं इनमें आपको आत्महत्या करने वाले अनेकों मिल जाएंगे क्यों ठीक है उन्होंने बहुत से क्षेत्रों में अधिक जाना है उनकी बुद्धि अच्छी थी पर जीवन की समस्याओं को कैसे झेलें और कठिन परिस्थितियों में भी कैसे जिए निराश नहीं हो अपने पे विश्वास रख सके नहीं मैं जीऊंगा चलूंगा संघर्ष करूंगा जीने के लिए ऐसे हार नहीं मानूंगा ये भाव गुरुकुलों में अधिक रहता है इसमें आस्तिकता भी एक बहुत बड़ा कारण है और राष्ट्रवाद की दृष्टि से आप देखो जितना गुरुकुलों में राष्ट्रवाद रहता है उतना वहां नहीं मिलेगा वहां ठीक है कभी पंद्रह अगस्त छब्बीस जनवरी को छोटा मोटा हो गया कोई कार्यक्रम हो गया लेकिन देश के लिए मर मिटने की जो अंदर भावना भरी जाती है वो वहां और यहां में कितना अंतर है रात दिन का अंतर है भारतीय संस्कृति अपने परंपरा उसकी रक्षा के लिए मर मिटना उसमें बहुत अंतर है और यदि आप नेतृत्व करने वालों का अनुपात देखें गुरुकुल से निकलने वाला व्यक्ति अधिकांश व्यक्ति वक्ता मिलेंगे बोल सकते हैं वो और जो बोल सकता है वो नेतृत्व कर सकता है वो अग्रणी रहेगा गुरुकुल वाला अग्रणी रहेगा उसको ज्यादा संकोच और वैसा नहीं होता है अनुपात देखना बाहर वाले भी होते हैं नेता अग्रणी होते हैं क्षमताएं होती हैं खूब अच्छे होते हैं आगे निकलते हैं लेकिन औसत आप तुलना देखोगे तो गुरुकुल के बच्चे बोलने वाले अधिक होंगे मंच पे बोल सकते हैं उसमें कई तरह के हुनर होंगे कई तरह के काम करने आते होंगे घरों में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चों को तो कुछ चीजें पता ही नहीं होती ये कुछ करनी भी होती है भोजन बांटना एक छोटी सी बात है भोजन बांटते हैं ना अब जहां सामाजिक परंपराएं थी गांव में भी है कहा जब बांटते हैं वहां तो ठीक है ये तो आधुनिक पढ़े हुए लोगों को कोई समूह में लोग बैठे उनको बांटने के लिए कह दो तो उनको तो वो बांटना तक नहीं आता बांटना तक नहीं आता और बहुत सारी चीजें बीसियों चीजें बीसियों चीजें अरे गुरुकुल के ब्रह्मचारी कहने लगे कि ये भी अच्छा ये कैसे कर लेते हो जी गुरुकुल में रहते हैं तो बहुत सारी चीजें सीखी जाती है सीखे ये करते हैं वो करते हैं कि ये चीज वो चीज गांव में गाँव घरों में रहते हैं तो नहीं सीख, सीखने में आती एक हमारे अजमेर में एक परिवार ने भोजन दिया शहर के रहने वाले और वो भोजन बांटने लगे मैंने उनको कहा कि आप भोजन दे रहे हैं तो आप और आपका परिवार बांटे उससे आपको अधिक भावना होगी और अंतर भी पड़ता है एक है कि उन्होंने रसीद कटवा दी हाँ भाई इतने रुपए भोजन के लिए हैं और हम भी बांट रहे हैं उनका नहीं आप बांटो देखो इन वेश में बैठे हुए व्यक्तियों को साधु संतों को जो इस क्षेत्र में लगे हैं त्यागी तपस्वी उनको बांटने में कैसी अनुभूति आती है आपको अपने बच्चों से बंटवाओ आप उनको याद रहेगा कि कभी हमने <laughs> आपको मिलेगा नहीं ऐसे लोग एक साथ बैठे हुए जिनको आप भोजन करवा रहे हो बहुत श्रद्धा से वो लेकिन उनको बांटना नहीं आया बच्चे को <laughs> जो थे उनको दृश्य ध्यान आ रहा होगा चेहरे में कि वो मैं लेके बांटू कैसे और भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं शहर का बच्चा होगा कभी कुछ सोने करने को नहीं है तो कैसे सोएगा करेगा गुरुकुल वाला तो कहीं भी पढ़ के सो जाएगा कहीं भी कुछ कर लेगा सब ऊंचा नीचा करना इत्यादि एक आत्मविश्वास गुरुकुल के बच्चे में आता है शारीरिक दृष्टि से गुरुकुल के बच्चे अधिक स्वस्थ रहते हैं अधिक बलवान रहते हैं उनके शरीर की बनावट सुगठित होती है अच्छी होती है अपेक्षाकृत अच्छी होती है किसी कार्य का उत्साह लगन भागदौड़ कष्ट सह के भी करना ये गुरुकुल के बच्चे में अधिक मिलेगी शहर का बच्चा तो या उसका पढ़ा लिखा ज्यादा होगा वो थोड़ा बहुत करते ही तो ढीला पड़ जाएगा नहीं हो जाएगा ऐसा और अगर कोई विरोधी आ जाए डाकू चोर लुटेरा ऐसा कोई आ जाए तो किसमें सक्रियता अधिक होगी सक्रियता मतलब कंपन किसमें अधिक होगा <laughs> पसीने किसमें अधिक आएंगे गुरुकुल वाला तो लाठी उठा सकता है और शहर में या तो गांव वाले तो चलो फिर भी ठीक रहते हैं <laughs> लेकिन शहरों के जो आधुनिक पढ़ने वाले हैं उनको लाठी तक नहीं पकड़ना है कि लाठी पकड़ू कैसे और करूं कैसे छोटी सी बात है लेकिन ये सब चीजें सब तरह की चीजें और मंच पे बैठा हो तो मंच पे बैठा लो और और कुछ करा लो तो और कुछ करा लो पर गुरुकुल वाले में आत्मविश्वास होना चाहिए मैंने आपको पहले भी वैसे बताया होगा मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि गुरुकुल वाले डॉक्टर नहीं बन सकते नहीं बन सकते बन सकते हैं कैसे बन बनेंगे हैं तो बोले ठीक है चिकित्सक क्या करता है रोगों को हटाता है कौन से रोग अधिक कष्ट देते हैं शारीरिक या मानसिक मानसिक रोग अधिक कष्ट अब गुरुकुल वाला अगर ये समझे कि मैं मानसिक रोगों का इलाज कर सकता हूं इनका ठीक है इनकी जो मानसिक समस्या है जनता की इनका मैं उपचार कर सकता हूं <laughs> नहीं कर सकते इनको क्या भावना देनी है क्या प्रेरणा देनी है इनकी समस्या क्यों है मानवीय मूल्य क्या है ये वो बता सकता है उसको और उससे उसको बहुत लाभ हो सकता है खुद को उसको और मानसिक चिकित्सक अधिक बड़ा है क्योंकि मानसिक समस्या अधिक खतरनाक है शारीरिक समस्या से चिकित्सक भी बन सकता है समाज सुधारक बन सकता है भूखा नहीं मर सकता भूखा नहीं मर सकता है और कुछ नहीं तो भिक्षा तो मांग ही सकता है <laughs> ये ये भी एक गुण है ये भी एक अच्छा दूसरे भिक्षा मांग सकते हैं क्या बताओ कई बच्चे भिक्षा नहीं मांग सकते मेरे को एक घटना याद आ रही है उन्होंने बताई होगी शायद बजाज थे या तो कौन थे रास्ते में जा रहे थे छोटा बच्चा था चप्पल थी वो टूट गई दस टूट गई अब क्या करें अब वो चले तो घिसटते घिसटते चले तो चला नहीं जाए चप्पल तो टूट गई डस उसकी मोची वोची थी नहीं बच्चा देखे ये क्या तो उसका पिता तो था वो धनी वो पता नहीं किसकी बेडला की बात है किसकी बात है बड़ा धनी था उस समय की बात है लेकिन उसको पता था उसने कहा कि इसको हाथ में ले लो मोची तो था नहीं वो बच्चे को ये दिक्कत कि मैं नंगा कैसे चलू नंगे पैर कैसे चलू लोग देखेंगे कि नंगे पैर जा रहे नंगे पैर कौन चलता है भिखारी निर्धन उसको तो, तो सेठ का लड़का था नंगे पैर चला इस चप्पल का क्या करे अब <laughs> बोले हाथ में पकड़ो चप्पल टूट जाए चप्पल लेके नहीं चल सकते तो हाथ में चलने में उसको शर्म आती है चल नहीं सकता है वो आप में से किसी को आती है क्या <laughs> नहीं आती शर्म उस सेठ ने अपने बच्चे को सिखाने के लिए इसकी महत्ता से उसको ऐसा चलवाया वो शायद जब बड़े हो गए सेठ वो भी अब बड़े हो चुके उन्होंने अब शायद अपने जीवन की घटना में लिखा था कि मेरे पिताजी ने मेरे को चप्पल में हाथ में रह के बाजार में चलवाया कुछ गुण विकास करने के लिए चलवाया था उसको ये भी एक गुण है गुरुकुल वाले को दिक्कत आती है नहीं चप्पल टूट गई टूट गई हाथ में ले ली और कहीं रख ली और कभी नंगे पैर हो तो नंगे पैर चल दिए कोई बात नहीं जाके पहन लेंगे कुछ दूसरे को दस बार सोचना पड़ जाता है तो कितने मानवीय मूल्य छोटे मोटे जिसपे हम ध्यान भी नहीं देते जो कि मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं उसको दृढ़ता लाते हैं वो गुरुकुलों में अनजाने में मिलता है और परमात्मा की और बढ़ने का मार्ग उसका तो कोई मूल्य ही नहीं उन सब विषयों को समझना सीखना हम चलते कितने ये एक अलग बात है लेकिन हमारे सामने तो है और कभी भी वो संस्कार जगेंगे जब वो चलना चाहेगा तब चल पड़ेगा भटकेगा नहीं इधर उधर आज नहीं चल रहा है ठीक है आज उपासना में मन नहीं लग रहा है कोई बात नहीं लेकिन सारा जाना समझा हुआ है और उधर ये तो सब पढ़ने को नहीं मिलता है लेकिन जीवन की ठोकरें खा के जब अध्यात्म की तरफ बढ़ने का मन करता है तब क्या करेगा वो इधर भागेगा उधर भागेगा इधर भागेगा और होगा क्या या तो वहां फंसेगा या वहां फंसेगा और वहीं फंस के रह जाएगा या फंसेगा फिर धोखा खाएगा फिर दूसरी जगह जाएगा और करता रहे, करता रहेगा गुरुकुल वाले को आर्ष पद्धति गुरुकुल वाले को रास्ता पता है वो फंसेगा नहीं उलझेगा नहीं जिस दिन चलना है उसके पास में सामग्री है वो चल सकता है ठीक रास्ते पर कोई अड़चन नहीं जब तक भौतिकवाद का प्रभाव है ठीक है चलता रहे इसमें लेकिन जब वो अध्यात्म में जाना चाहेगा तो आराम से जा सकता है तो गुरुकुल के दोषों को देख करके मन में हीन भावना आ सकती है किसी अब ये हमारे पे निर्भर है कि हम गुरुकुल को सहयोग करें या ना करें अपने बच्चों को गुरुकुल भेजें या ना भेजें या गुरुकुल खोलें या ना खोलें और घर परिवार का सहयोग करना है तो घर परिवार का सहयोग कर लेना चाहिए गृहस्थ में जाना है तो गृहस्थ में चले जाना चाहिए अच्छे ढंग से गृहस्थ में जाए वहां काम करें समाज के लिए काम करें और अगर इतना त्याग तपस्या है और इतना मन में विश्वास है दृढ़ता है तो गृहस्थ में न जाते हुए वैसे समाज के लिए काम करें लगाएं अपना जीवन आप लोगों का खूब समय ले लिया ठीक है इतना रखते हैं कोई सूचना